वाक्य भाष्य द्वितीय मंत्र चल रहा था अतो नाह मन्य देती यहाँ तक तो हुआ था टीका में विपरीत प्रत्यय से सम्य ज्ञान विरुद्धत्वात् विपरीत प्रत्यय सम्य ज्ञान से विरुद्ध है तदुदय मात्रात विपरीत प्रत्यय अवगत इत्यर्थ सम्य ज्ञान उत्पत्ति मात्र से विपरीत प्रत्यय नष्ट हो गया न केवलम विपरीत प्रत्यय संशय सेवा अभावा मम निश्चित विज्ञानम अज्ञानाभावाच इत्याह विपरीत प्रत्यय संशय सेवा अभावात् अप्रमाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्वा ज्ञान संशयी कुमार भट्ट ने कहा है श्लोक वार्तिक में तीन प्रकार अप्रमाण्यम मिथ्यात्व अज्ञान संशय मिथ्यात्व ये ब्रह्म ज्ञान अज्ञान ये ज्ञान नहीं होना ज्ञान की अनुत्पत्ति अज्ञ संशय संशय ज्ञान होना अभी विपरीत प्रत्यय नहीं है संशय भी नहीं है तो विपरीत प्रत्यय से अभावात संशय से अभावात मम निश्चितम विज्ञानम विपरीत प्रत्यय नहीं संशय नहीं इसलिए निश्चित विज्ञान इतने मात्र नहीं अज्ञान अभावाच अज्ञान भी नहीं है तो ज्ञान संशय भ्रांति तीनों नहीं होने से ये निश्चय होता है ज्ञान निश्चितम विज्ञानम जिस ज्ञान में विपरीत प्रत्यय हो संशय हो अज्ञान की उत्पत्ति नहीं है तो अज्ञान है अज्ञान है तो ज्ञान सम्य ज्ञान नहीं है यस्माच तनेव न नो वे नो न मन्नेति अनुवर्तते यस्माच तनेव न नो न वेदेति मन्ये इसे पाठ है कि नए में क्या पाठ है यस्माच तन्नैव न आगे न वेदेति मन्येति अनुवर्तते यस्माच तन्नैव न वेद नो न वेदेति मन्यते इति अनुवर्तते यस्मै से पाठ भेदे यस्माच तन्नैव न वेद नो न वेद इति न वेद नो न वेद न वेद नो न वेद इति मन्यते अनुवर्तते न वेद नो न वेद मैं मान वेद इसे मानता नहीं मानता हूँ नो न वेद इति ऐसा भी नहीं मानता हूँ न वेद नो न वेद वेद ऐसे नहीं मानता हूँ न मान्य न वेद इति नो मनी नहीं जानता इसे भी नहीं मानता हूं इसलिए पाठ नहीं न वेद क्योंकि अज्ञान अभाव कहना है अज्ञान अभाव कहना है तो तो न वेद इति मन्यते न वेद कहेंगे तो अज्ञान अभाव सिद्ध नहीं होता है अभी चल रहा है अज्ञान अभावाच्च अज्ञान का अभाव कहने के लिए यस्माच तन नैव न वेद न वेद नैव न वेद इति मन्ने हाँ, न वेद इति मन्ने वे लग जाएगा न वेद इति नैव मन्ने मन्ये नैव न वेद वेदेति मन्ये किसमें पाठ है न वेद नो न वेद इति मन्ने इति अनुवर्तते तो नहीं जानता हूं इसे भी नहीं मानता हूं टीका में अथवा वेद चैत्यस्य अन्वर्थ कथ्यते वेदच न हमन्यस वेदेति नो न वेदेति वेदच नो न वेदेति वेदच वेदच का अन्यर्थ कहते हैं आगे विशेष विज्ञान हम पहले भाष्य में अविदित ब्रह्म प्रतिषेधात अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध किया नान अविदित ब्रह्म अन्य देवता तद अथ अविदित से ऊपर है भिन्न है ब्रह्म तो अविदित ब्रह्म नहीं अविदित ब्रह्म का प्रतिषेध किया अविदित ब्रह्म नहीं है कथन मन्यसे इतुताह वेदच तो कैसे मानते तो तो वेदच न वेद इति आगे वेदच वेदच कन से च शब्दात वेदच न वेदच इति अभिप्राय वेद जानता भी हूं नहीं भी जानता हूं विदिता विदिताभ्याम अन्यत्वाद ब्रह्मणस तस्मान मया विदितम ब्रह्मेति इति वाक्यार्थ विदित और अविदित दोनों से भिन्न है ब्रह्म विदित अविदित अपने स्वरूप से भिन्न होता है उससे अन्य ही ब्रह्म है तस्मान मया विदितम ब्रह्म इति मन्यति वाक्यार्थम कि विदित अविदित दोनों से भिन्न इस प्रकार मुझे ज्ञान हुआ तो विद्यतम ब्रह्म इति मन्ये ये दिया अथवा वेद चैत्य नित्य अथवा वेद च जो दिया है अथवा वेद चैत्य अस्य अन्य अर्थ कथ्यते ये टीका में अथवा वेद च इसका अन्य अर्थ कहते हैं अथवा वेद चैति अन्य अर्थ क्या है नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया नो न वेद वेदेव चाहम स्वरूप विक्रिया अभावत वेद च इसका अन्य के नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूपतया नित्य विज्ञान ब्रह्म स्वरूप में हूँ इसलिए न वेद वो तो स्वरूप तो ज्ञान स्वरूप नित्य विज्ञान स्वरूप न वेद इतना नो न वेद नो न न वेद इतना नहीं वेदैव चाहम मैं जानता हूँ स्वरूप विक्रिया अभाव स्वरूपतः विक्रिया नहीं है आत्म स्वरूप विक्रिया नहीं ज्ञान स्वरूप नित्य है टीका में यद्य अनित्यम आत्मविज्ञानम स्यात् तरी तस्य प्राग अभाव काले प्रध्वंसाभाव काले च वा अज्ञानम संभाव्यत न तो तदस्ति आत्मविज्ञान यदि अनित्य होता तो उसके प्राग अभाव काले आत्मविज्ञान उत्पत्ति के पहले अथवा ध्वंस के बाद अभाव काले अज्ञान होता है न तो तदस्ति क्योंकि ब्रह्म तो नित्य ज्ञान स्वरूप है स्वरूपतः अनित्य नहीं है नित्यम ही विज्ञान ब्रह्म मम स्वरूपम विज्ञानम ब्रह्म नित्यम विज्ञान ब्रह्म विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म मम स्वरूपम मम स्वरूप भी यहाँ गौण प्रयोग है मेरा स्वरूप अहम अस्मि तो मेरा स्वरूप कहते मेरा स्वरूप है मेरा स्वरूप क्या था मैं अहम अस्मि नित्य विज्ञान ब्रह्म में हूं ततो न नो न वेद न वेद से प्रयोग नहीं होगा जहाँ विज्ञान सापेक्ष वस्तु हो उसमें न वेद वेद प्रयोग होगा ये विज्ञान सापेक्ष नहीं नित्य विज्ञान स्वरूप यदि च वेदन मम विक्रिया भवेत तथा विक्रियाया कादाचित कत्वात् कदाचित अहम वेदिति संकेत न तो तदस्ति स्वरूप विज्ञानस्य अन्यथात्वा संभवात् सदा वेदेवाहम वेदनम यदि मम विक्रिया भवेत वेदन यदि विक्रिया क्रिया हो विकार हो तदा विक्रियायाः कादाचित्कत्वात् विक्रिया तो कादाचित्क कदाचित् बाबा कादाचित् कादाचित् का विक्रिया कदाचित हम वेद इति संकेत कदाचित वेद का न वेद ये प्रश्न होगा न तो तदस्ति स्वरूप विज्ञान तो हमेशा ही एक रूप है स्वरूप विज्ञान अन्यथा तो असंभवात अन्यथा नहीं नित्य विज्ञान स्वरूप ही सदा है सदा वेदेव हम वेदेव में वेद का तो ज्ञानवान अर्थ नहीं ज्ञान स्वरूप में हूँ यथा स्वाभाविक अचलतया पर्वता तिष्ठन्ति उपदेश तद्वत इत्यर्थ तो वेद शब्द कैसे हुआ ज्ञान स्वरूप है तो वेद का तो ज्ञान जानता हूँ ज्ञानवान अहम तो ज्ञान अलग होकर के ज्ञानवान ऐसा नहीं ज्ञान स्वरूप होने से इसे प्रयोग किया जाता है स्था धातु है गति निवृत्तो स्था धातु तिष्ठति स्था धातु का अर्थ क्या है गति निवृत्तो गति की निवृत्ति चल रहा है रुक गया तो स्था धातु का प्रयोग करना अब पर्वतास्तिष्ठन्ति पर्वत चल रहे थे वह रुक गया ऐसा अर्थ नहीं है स्वाभाविक अचल होने पर भी स्वाभाविक अचलतया पर्वता तिष्ठन्ति दिव्यपदेश यानी कि पर्वत चलते चलते रुक जाने से पर्वता तिष्ठन्ति ऐसा प्रयोग होता है ऐसा नहीं है स्वाभाविक अचल होने से ने पर्वता तिष्ठन्ति पर्वता तिष्ठन्ति प्रयोग होता है स्था धातु का अर्थ गति निवृत्ति यहाँ गति की निवृत्ति नहीं गति है ही नहीं स्वाभाविक गति अभाव होने पर भी ऐसे प्रयोग होता है इसी प्रकार नित्य विज्ञान स्वरूप होने से सदा वेदेव हम जानता हूं इसे प्रयोग हो गया स्वसत्तायाम स्वयं प्रमेति सप्रकाशत्वम आदाय व्याख्यातम स्वसत्तायाम स्वयं प्रमा स्वसत्ता में स्वयं ही प्रमा है अन्य कोई प्रमा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वसत्ता में सद्रूप में कभी आवरण नहीं माना जाता है अहम हाँ, अस्मि ऐसा निश्चय तो किसको है या नहीं अहम हाँ, अस्मि ऐसा निश्चय है वेदांत श्रवण करने के पहले निश्चय होगा सबको निश्चय अहम हाँ, अस्मि कभी संशय ने अहम अस्मि नवा कभी कभी होता संशय अभी पर तो नाम अस्मि भ्रांति कभी होती है अपने स्वसत्ता में संशय विपर रहित ज्ञान होने से सदा निश्चय रूपे स्वसत्ता में स्वयं प्रमा स्वयं ही प्रमा उसके लिए अलग प्रमा है ही नहीं अलग ज्ञान उत्पन्न होगा घट सत्ता में घट जब तक है तो घट सत्ता में कोई संशय होता है नहीं नहीं होता है संशय होता है क्या हैं घट सत्ता में संशय हो सकता है क्यों घट का ज्ञान होगा तो संशय नहीं होगा नहीं देखा तो संशय हो सकता है होता है तो घट स्वसत्ता में स्वयं परमा नहीं है घट का ज्ञान होगा तो घट अस्थि घट सत्ता का निश्चय होता है किंतु अपने सत्ता का निश्चय करने के लिए कोई पूछेगा तुम हो फिर कह रुको मैं लाइट प्रकाश जलाता हूँ उसके बाद बताऊंगा देख करके नहीं तो हाथ से थोड़ा टटलो करे सिर में पेट में हाथ लगा करके ऐसा बोलता है मैं हूं करके मैं अहम अस्मि उसमें और कुछ ना अहम अस्मि हाथ पैर ठीक है नहीं वो भले पता नहीं चलेगा हाथ पैर क्या है आसन में बैठे थे कभी-कभी देह भान नहीं होगा हाथ पैर पता नहीं चलता है ये संभव है कभी-कभी बढ़ जाते हैं तो हाथ सुन्न हो जाता है किंतु मैं हूं या नहीं हूं संशय अथवा विपर्य नहीं होता है स्वस्थता में स्वयं ही प्रमा अलग प्रमा की आवश्यकता नहीं स्वस्थता में स्वयं प्रमा इति स्वप्रकाशत्व आत्मा प्रकाश है अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं है स्वप्रकाशत्व आदय व्याख्यातम इसे प्रकाशत्व को लेकर के व्याख्यान किया गया सदा वेदेव अहमिति वेद इतेव पद वेद च वेद कान सदा वेदेव हमेशा जानता हूं जो कहा गया ये नहीं कि ये आत्मा में अतिरिक्त ज्ञान उत्पन्न होने से वेद ज्ञानवान ऐसा नहीं स्वसत्ता में स्वयं प्रमा सदा में ज्ञान स्वरूप हूं सदा वेद हूं वेद च च शब्दार्थमा अवेद च में च शब्द है च शब्द का अर्थ कहते हैं विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम न स्वतः इति तो न च वेदेति वेद च न वेद च वेद च कहने के बाद फिर न वेद कैसे हुआ वेद च ससत्ता में कोई सत्य नहीं वेद च हो गया स्वयं प्रमा है तो फिर नवेद वेद च से च शब्द से नवेद च ये फिर कैसे हुआ इसलिए हुआ विशेष विज्ञान नहीं है विज्ञान ज्ञान दो है एक सामान्य ज्ञान एक विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान है ज्ञप्तिर ज्ञानम स्वरूप ज्ञानम वो किस रहता है हैं सुषुप्ति अवस्था में रहेगा जागृत अवस्था में हमेशा है सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान जागृत अवस्था में सुषुप्ति अवस्था में दोनों में नहीं दोनों में नहीं और किस में एक में विशेष ज्ञान जागृत में स्वप्न में है सुसुप्ति में नहीं है विशेष विज्ञान विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम जो विशेष विज्ञान ये स्वरूप नहीं है तो परेण अध्यस्तम उपाधि के द्वारा अध्यस्त है विशेष विज्ञान कोई ज्ञान स्वरूप नहीं है आरोपित है स्वरूप में अंतकण वृत्ति होती घटाकार पटाकार वृत्ति वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब होने से वो वृत्ति को ज्ञान शब्द से कह देते हैं वो विशेषा ज्ञान स्वरूप ज्ञान ही उपाधि से अध्यस्तम न स्वतः स्वतः आत्मा में विशेष विज्ञान है ही नहीं स्वरूप तो तो अवस्था में भी रहना चाहिए तो उपाधि के द्वारा अध्यस्त है न सतैति परमार्थ तो न च वेद इति इसलिए परमार्थ तो वेद ज्ञानवान अहम ऐसा अर्थ नहीं होगा विशेष विज्ञान परमार्थ तो है ही नहीं इसलिए न च वेद न वेद करके किस वेदन का निषेध किया गया विशेष विज्ञान का न वेद कह करके विशेष विज्ञान का निषेध किया अरे वेद से कह कर किस ज्ञान का समर्थन किया गया हैं स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान रहते हुए विशेष ज्ञान का अभाव हो सकता है विशेष ज्ञान का यदि अभाव है तो स्वरूप ज्ञान कैसे रहेगा रहेगा यथा सुसुप्तो सुसुप्ति में विशेष विज्ञान रहता है नहीं रहेगा स्वरूप ज्ञान रहेगा हाँ स्वरूप ज्ञान रहता है उठने के बाद कोई कहेगा कहाँ गया था नहीं कमरे में था सो गया था पता नहीं उठा नहीं अहम असी सुश्रुति ज्ञान सुश्रुति के साक्षी रूप से रहता है नहीं तो सुश्रुति का दृष्टा यदि ज्ञान नहीं रहे सुश्रुति में क्या प्रमाण है न किंचित सम सुखम अहम अस्वापसम सुख से सो गया तो सुश्रुति अवस्था में विशेष विज्ञान है नहीं रहेगा सामान्य ज्ञान रहेगा सामान्य ज्ञान जागृत स्वप्न में रहेगा हां सामान्य ज्ञान है तो वेद अच किसको लेकर वेद अच का स्वरूप ज्ञान को लेकर के वेद अच सामान्य ज्ञान को नवेद अच किसको लेकर के तो आत्मा में विशेष विज्ञान नहीं है आत्मा विषय के विशेष विज्ञान नहीं विशेष विज्ञान तो अध्यस्त आरोपित है जागृत स्वप्न अवस्था में वृत्ति को लेकर के नवेद ठीक टीका में आगमाद विचार सहकृता जातम ब्रह्मात्मकता व्यंजकम अंतकरण परिणाम रूपम ब्रह्मास्मीति विशेष विज्ञानम तत्परण अध्यस्तम परण इति केन चैतन्य मतलब दूसरे व्यक्ति के द्वारा परण अंतकरणेन उपाधिना आत्मनि अध्यस्तम न परमार्थ तो ज्ञानवत्तम आत्मनैति न वेद चेति घटते इत्यर्थ आगमाद विचार सकृता जानम ब्रह्म ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है जो स्वरूप ब्रह्म रूप ज्ञान नित्य वह अज्ञान का निवर्तक नहीं है स्वरूप ज्ञान यदि अज्ञान का निवर्तक होता अभी तक अज्ञान नहीं रहता स्वरूप ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं यह नित्य ज्ञान वह अज्ञान का निवर्तक है नित्य ज्ञान भी अज्ञान का निवर्तक नहीं तो अनित्य ज्ञान से ज्ञान की निवृत्ति होगी ये सिद्ध हुआ नित्य ज्ञान अज्ञान के अनिवर्तक नहीं तो ज्ञान का अनिवर्तक ज्ञान अनित्य ही है, है अनित्य है हैं हाँ अनित्य है क्योंकि उत्पन्न होता है जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है वह अनित्य है नित्य नहीं है अनित्य क्योंकि उत्पन्न होता है उत्पन्न होगा तो नित्य होगा क्या उत्पन्न होता कैसे आगमात विचार सकृतात जातम ज्ञानम आगम प्रमाण है तत्वमसि आदि महावाक्य प्रमाण है आगम प्रमाण हुआ प्रमाण से ज्ञान होता है प्रमाकरणम प्रमाणम आगम प्रमाण है प्रमाण के बिना खाली ध्यान कर बैठे ज्ञान हो जाएगा समाधि लगाएंगे वो नहीं ज्ञान होगा प्रमाण से समाधि करना ठीक है प्रमाण हो तो संशय विपर निवृत्ति के लिए समाहित होना समाहित होने तो से अंतकोण शुद्ध होगा एकाग्र होगा किंतु प्रमाण से ज्ञान होता है ध्यान मात्र से नहीं आगमात और केवल आगम सुनने से ज्ञान नहीं होता है आगम तो सुनते तत्वमसि बहुत लोग सुन लिया बहुत बार इसलिए विचार सहकृता विचार सहकृत आगम विचार भी साथ में श्रवण के बाद मनन करना है निरंतर मनन करके संशय नष्ट हो तभी निधि ध्यान विचार सहकृताद ज्ञातम ज्ञानम वो ज्ञान क्या पदार्थ है उत्पन्न होता है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा हैं उत्पन्न होगा जो अज्ञान का निवर्तक ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होगा उत्पन्न होगा तो अनित्य हो जाएगा अनित्य हां जातम ब्रह्मात्मकता व्यंजकम ब्रह्मात्मकता का व्यंजक है ब्रह्म अस्मि इसी ब्रह्मात्मकता ब्रह्मात्मा अभिन्नत्व का अभिव्यंजक है उत्पादक नहीं व्यंजक घट यदि पहले से है प्रकाश जलाएंगे तो घट दिखेगा पहले नहीं तो अधिक प्रकाश जलाएंगे तो घट दिखेगा पहले है तो दिखेगा इसी प्रकार ब्रह्मात्मकता तो पहले से है ही जीव ब्रह्म की एकता की उत्पत्ति होती वेदांत प्रमाण से आचार्य उपदेश से वेदांत प्रमाण से एकता की उत्पत्ति होती है नहीं उत्पत्ति नहीं होती एकत्व तो पहले से है ज्ञान होने के बाद एकत्व हो जाए कोई कोई कहते पहले भेद रहता है ज्ञान होने के बाद फिर उसके साथ एक हो जाएगा एकत्व तो पहले नहीं तो एक कैसे हो जाएगा एकता का व्यंजक होता है ज्ञान एकता का जनक नहीं जनक व्यंजक में भेद है अभिव्यंजक होता है जो वस्तु है प्रकाश से उसकी अभिव्यक्ति होगी घट यदि है तो प्रकाश से दिख सकता है यदि नहीं है तो जितने प्रकाश जलाओ घट दिखेगा और अधिक प्रकाश जलाओ दिख जाएगा है तो दिखेगा तो ज्ञान जिस प्रकाश जैसे वस्तु का व्यंजक अभिव्यंजक होता है जनक नहीं इसी प्रकार ज्ञान भी प्रकाशक है ब्रह्मात्मकता पहले से है उसका अभिव्यंज व्यंजक होता है कौन है ज्ञान और ज्ञान क्या पदार्थ है अंतकरण परिणाम रूपम अंतकरण के परिणाम रूप ही ज्ञान परिणाम को वृत्ति कहते हैं अंतकरण परिणाम वृत्ति वृत्ति है अंतकरण में परिणाम वृत्ति कैसे ब्रह्मास्मि इति इस प्रकार अहम ब्रह्म अस्मि ब्रह्म हूं इस प्रकार वृत्ति ज्ञान परिणाम अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार शब्द नहीं अंतकरण का परिणाम अंतकण में परिणाम नहीं किंतु शब्द से कोई कहे ब्रह्मास्मि सोहम शिवम रटेगा और ब्रह्म ज्ञान है या नहीं अंतकण का परिणाम होना चाहिए अंतकण परिणाम शब्द से कहें तो परिणाम हो जाएगा खटा खाओ कहो बहुत मीठा बहुत मीठा मट बहुत मीठा बहुत मीठा कहते समय क्या खटा लगेगा हाँ, खटा वो अंतकण परिणाम क्या है अम्लाकार या मधुराकार मधुराकार हो जाएगा खटा खाते समय अम्लाकार वृत्ति है अब शब्द से कहता मधुरम सुमधुरम अत्यंत मधुरम मधुर मधुर कहता है किंतु खटा खटा कड़वा कड़वा तुक तुक करता है इसी प्रकार ब्रह्म अंतकण का परिणाम अंतकरण का परिणाम आत्मक वृत्ति सामने घट है देखने पर घटाकार वृत्ति होगी घट निश्चय होगा घट निश्चय हो कोई कहता है घट सामने है ये घट नहीं है घट को नहीं देखो इंद्र सन्निकर्ष हो गया तो घट ज्ञान होगा मना करेंगे तो मना करने पर भी हो जाएगा घट को कभी पट ज्ञान पट समझ लेगा प्रमाण संबंध होने से भ्रांति हो जाएगा पट यदि भ्रांति हो जाएगी वास्तव नहीं है तो ज्ञान तो अपने इच्छा से नहीं यदि वस्तु है प्रमाण है तो ज्ञान हो ही जाएगा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तो ये परमार्थत ब्रह्मास्मिति जो विशेष विज्ञान ये विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान घट ज्ञान भी विशेष विज्ञान है घटो अस्ति पटो अस्ति ये भी विशेष विज्ञान जो जागृत अवस्था में स्वप्न अवस्था में है किंतु यहाँ ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार चल रहा है विशेष विज्ञान नहीं ब्रह्म का विशेष विज्ञान नहीं सामान्य ज्ञान है सामान्य ज्ञान होने से स्वरूप ज्ञान होने से क्या उत्तर दिया शिष्य ने वेद वेद अरे विशेष विज्ञान नहीं होने से क्या उत्तर दिया न वेद विशेष विज्ञान नहीं मतलब ब्रह्मास्मि जो विशेष विज्ञान वो अंतकरण परिणाम विशेष विज्ञान वो विशेष विज्ञान पराध्यस्तम विशेष विज्ञान से पराध्यस्तम स्वतः नहीं विशेष विज्ञान अंतकरण परिणाम स्वरूपतः ब्रह्म में है क्या वह अध्यस्त है विशेष विज्ञान अध्यस्त है वास्तव नहीं है स्वरूपत नहीं है तत्परेण अध्यस्तम परिणति अंतकरणेन उपाधिना अंतकरणात्मक उपाधि के द्वारा अध्यस्त है उपाधि अध्यस्त है कुत्र अध्यस्तम अंतकरण में आत्मनि आत्मनि अध्यस्तम आत्मा में आरोपित है किम अध्यस्तम विशेष विज्ञानम केन परेण उपाधि उपाधिना अंतकर्ण रूप उपाधि है पर कौन हुआ अंतकर्ण हो गया पर वही उपाधि है आरोपित है आरोपित कुत्र आत्मा में न परमार्थ तो ज्ञानवत्व आत्मन आत्मा में ज्ञानवत्वम है नहीं आत्मा में ज्ञान परमार्थतः नहीं है ब्रह्म में परमार्थत ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी हो जाएगा ब्रह्म ब्रह्म अज्ञानी है अज्ञानी है अज्ञानी नहीं <laughs> परमार्थ तो अज्ञान नहीं किंतु ज्ञान होने के पहले अज्ञानी कौन है <laughs> ब्रह्म नहीं <laughs> अज्ञान का आश्रय कौन है तो अज्ञानी नहीं हुआ अज्ञानम अस्य अस्मिन् अस्तित्व तो अज्ञानी अज्ञानी होगा अज्ञान इसमें है अज्ञान पारमार्थिक नहीं है अज्ञान भी आरोपित है तो अज्ञान का आशय ब्रह्म है तो अज्ञानी हो जाएगा तो क्या पति नित्य ज्ञान स्वरूप है उसमें ज्ञान नहीं है जो रूप है पुष्प में रूप है क्या वो रूप रूप रूप रहित है या नहीं रूपस्य रूपमस्ति नवा रूप निरूप है रूप रूप वायु जैसे निरूप है ऐसे रूप भी निरूप है बा कठिन है ना वायु निरूप है क्या वायु में रूप नहीं रूप का रूप है वायु में जैसे रूप नहीं से रूप में भी रूप नहीं है धनी के पास धन है धनी के पास बहुत धन है उसके पास जो धन है वो धन धनी है ना नहीं बताओ धन धनी है निर्धन है धन निर्धन है संभव है धन निर्धन हो जाएगा गरीब हो जाएगा निर्धन है धन का धन नहीं धनी का धन है रूप वाले द्रव्य का रूप है रूप का रूप नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान रूप है ज्ञान रूप ब्रह्म का अलग ज्ञान नहीं है है ज्ञानवत्वम ब्रह्म में है क्या ज्ञान स्वरूप ब्रह्म ज्ञान वस्तु नहीं है ये कहा न परमार्थ ज्ञान वत्वम आत्मनिति न वेदच इति घटते इसलिए न वेदच अर्थात ज्ञान वत्वम नहीं है विशेष विज्ञान नहीं है विशेष विज्ञान तो आरोपित है प्रकारांतरणापि ब्रह्म विज्ञानम संभवति इति शंका निराशार्थम वाक्य के देशितया प्रकारांतरण भी ब्रह्म विज्ञान संभवति अन्य प्रकार से संभवति विदितत्वादिना रूपेणापि विदित अविदित अंतरनापि ब्रह्म विज्ञान संहिता ते शंका कोई शंका करता है अविदित तो ठीक है विदितत्व भी तो ज्ञान हो सकता है ब्रह्म का ज्ञान होता है ब्रह्म विदित तो होगा अंतरण का अर्थ क्या विदितत्वान विदितत्वेन ब्रह्म ज्ञान हो सकता है ब्रह्म विज्ञान संभवति शंका का निराश करने के लिए वाक्य के देश इत्याह उसका जो एक देश यो नस्तद वेद तद वेद ये वाक्य के देश ये कहा गया अन्य प्रकार से ज्ञान नहीं यही ज्ञान है वेद च न वेद च जो कहा वैसा यथार्थ कहा अन्य प्रकार ज्ञान नहीं होगा यो भाष्य में यो तद तद्वेद ये जो कहा है पक्षांतर निराशार्थम आमनाय उक्तार्थ अनुवादार्थ ये संग्रह वाक्य उसका अर्थ क्या यो न का तस्माक मध्य तद वेद सैव तद ब्रह्म वेद नान्य वही जानता है अन्य नहीं जानता ठीक से ये जो दिया है यो टीका में दिया यो न अस्माक मध्य हम लोग सहपाठी में जो जानता है तद वेद क्या है तद का विदित विदित अन्यत्व वेद क्योंकि विदित अविदित ना हम मन से वेदित नो न वेदित वेदच विदित अविदित से अन्य को जो जानता है वही ठीक ब्रह्म को जानता है अन्य नहीं जानता है अन्य क्यों नहीं जानता है उसका हेतु दिया उपास्य ब्रह्मवित्वात् अतो अन्य से यथा हम वेदेति पक्षांतरे ब्रह्मवित्व निरस्यते उपास्य ब्रह्मवित्वात् हेतु तो है किंतु उपास्य ब्रह्मवित्वात् का अन्य आगे के साथ है उपास्य ब्रह्मवित्वात् अतो अन्यस्य यथाहं वेदिति पक्षांतरे ब्रह्मवित्तो निरस्यते इसका अन्वय से करना यथा अहम वेद अतो अन्यस्य उपास ब्रह्मवित्वात् इति पक्षांतरे ब्रह्मवित्तो निरस्यते सएव तद ब्रह्मवेद नान्य संग्रह वाक्य का अर्थ आया मैं हमारे में जो इसको जानता है वही ब्रह्म को जानता है अन्य नहीं अन्य क्यों नहीं तो कहा यथा अहम वेद मैं जिस प्रकार जानता हूँ अतो से उससे अन्य प्रकार जो जानता है वह उपास्य ब्रह्मविति मैं तो जानता हूँ विदित अविदित से भिन्न है यथा हम वेद विदित अविदित से भिन्न ब्रह्म में जानता हूँ अतो से अन्य प्रकार से जो जानता है उपास्य ब्रह्मविति हुआ उपास्य ब्रह्मविति होने के कारण वो पक्षांतर है ब्रह्मवित्त वो ब्रह्मवित्त नहीं है इसका अन्वय टीका में दे दिया यथा अहम वेद अतो अन्यन प्रकार ने विदुष उपास्य ब्रह्मवित्वात इति योजना इसमें अन्यस्य अन्यस्य अतो अन्यस्य भाष्य में है ना अन्यस्य का अर्थ करते हैं अन्यस्य कैसा यथा अहम वेद यथा अहम वेद अतो अन्यस्य अतो अन्यस्य का अर्थ क्या टीका में यथा अहम वेद अतो अन्यन प्रकार विदुष अतो अन्यस्य का क्या अर्थ हुआ अन्य प्रकार विदुष जैसा मैं जानता हूँ जो अन्य प्रकार से जानता है अन्यस्य उपास्य ब्रह्मवित होने के कारण वो ठीक नहीं जानता है ये अन्य करना इतने ही है ये भाष्य वाक्य में भाष्य में यथा अहम वेद अतो अन्यस्य उपास्य ब्रह्म वित्वात इति पक्षांतर अन्य वो ठीक नहीं जानता है वित्व का निराश किया तो अन्यस्य का अर्थ किया अन्यन प्रकार विदुष मैं जैसे जानता हूं विदित अविदित से भिन्न उसे अन्य प्रकार से जानता है अन्य से उपास्य वित्वात उपास्य ब्रह्म को जानता है इसलिए वो वित्त नहीं है यो नस्तद्वेद तद्वेद इति एक एक पादे यो न तद्वेद तद्वेद यह जो वाक्य का श्रुति वाक्य का एक देश है वो एक देश किमर्थ पक्षांतर निराशार्थम अन्य पक्ष निराश करने के लिए अन्य प्रकार ज्ञान हो नहीं सकता है शंका हुई थी प्रकारांतरेणापि ब्रह्म ज्ञान हो जाए विधि तत्व ने ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो यो न तद्वेद तद्वेद जो हमारे में इसको जानता है वही ठीक जानता है अन्य प्रकार ज्ञान है तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है विदित अविदित से अन्य ब्रह्म विदित रूप से ब्रह्म ज्ञान नहीं विदित रूप से किसको ज्ञान है तो ठीक नहीं जानता है मैं जैसे का इसे जानता है तो ठीक जानता है यो न न का तस्माकम हमारे में हमारे में मध्य में तद्वेद उसको जानता है तो ठीक जानता है ये जो कहा गया शिष्य ने कहा अमनाय में एक देश है पक्षांतर निराशार्थम अन्य पक्ष निराश करने के लिए अन्य प्रकार विदित नहीं होगा आमनाय ये क्यों है उक्तार्थ अनुवादात उक्तार्थ से अनुवादात जो पहले कहा था उसका है अनुवाद यो नस्तद्वेद तत्वेद नाहमन्य सुवेदिति कह करके टीका में इदम सूत्रवाक्यम विवृणति ये सूत्रवाक्य हुआ यो नस्तद्वेद तद्वेद इति पक्षांतर निरसार्थम आमनाय उक्तार्थ अनुवादात ये संग्रह वाक्य हुआ संक्षेप वाक्य सूत्र वाक्य सूत्र को संक्षेप कहते हैं तो उसका विवरण व्याख्यान है यो न अस्माक मध्ये तद वेद सैव तद ब्रह्म वेद नान्य तद वेद चाहिए यो न नो अस्माक मध्ये तद वेद यो नस तद वेद तद वेद यो न का अस्माक मध्ये तद वेद यो नस तद वेद तद वेद सैव तद ब्रह्म वेद यो नस तद वेद तद वेद जो हमारे में उसको ब्रह्म जानता है तद्वेद तद्वेद जो मैंने कहा जो जानता है सैव तद्वेद सैव तद्वेद तद्वेद में दूसरा द्वितीय तद्वेद का व्याख्यान है प्रथम तो तद्वेद हो गया उसकी व्याख्या नहीं यो नस्माकमधि तद्वेद यो नस तद्वेद हो गया आगे तद्वेद तद्वेद का कर्ता कौन होगा स सैव तद्वेद तद्वेद में तत् शब्द का क्या अर्थ है ब्रह्म दिया ने तत्का ब्रह्म सैव तद ब्रह्म वेद तद ब्रह्म शब्द कहां से आया तद शब्द का अर्थ ब्रह्म तद शब्द कहां है तद वेद प्रथम या द्वितीय द्वितीय तद वेद द्वितीय तद वेद प्रथम तद वेद रह गया यो न अस्माकमदे तद वेद सैव तद वेद तत्पद का अर्थ ब्रह्म सैव वेद एवकार का क्या अर्थ है सैव तद ब्रह्म वेद अर्थात नान्य नान्य एवकार का था अन्य नहीं अन्य कोई हमारे में ऐसा कोई है ठीक नहीं वही जो जानता है मेरे कथन को जानता है वही ठीक जानता है टीका में यो नो अस्माक मध्य तद तद वेद तद वेद की व्याख्या टीकाकार करते हैं भाष्य में नहीं है तद का तो विदिता विदिता अन्यत्वम वेद विदिता विदिता अन्यत्वम विदित अविदित से अन्य ब्रह्म अन्यत्वम वे ब्रह्म में विदिता विदित अन्यत्व अन्यत्वेन विदित अविदित अन्यत्व वेद ब्रह्म में विदित भिन्नत्व अविदित भिन्नत्व है ऐसा जो जानता है विदित भी नहीं है अविदित भी नहीं विदित अविदित अन्यत्व जो जानता है स एव तद ब्रह्म वेद यथा अहम वेद अतो अन्यन प्रकारन विदुष उपास्य ब्रह्मवित्वाद इति योजना भाष्य में पहले सैव तद ब्रह्म नान्य वेद नान्य क्यों उपास्य ब्रह्मवित्वात् इससे अन्य प्रकार जो जानता है उपास्य ब्रह्म को जानता है भिन्न को जानता है भिन्न को जानने वाला ठीक नहीं जानता है उपास्य ब्रह्म वित्वाद उपास्यम यद ब्रह्म तद वित्वाद उपास्य ब्रह्म को जानना जानता है अतो अन्यस्य यथा हम वेद इति पक्षांतरे ब्रह्मवित्व निरस्यते अतो अन्यस्य ब्रह्मवित्व निरस्यते उस अन्य प्रकार कोई जानता है तो वित्व नहीं है अतो अन्यस्य यथा अहम वेद इति यथा अहम वेद इस प्रकार है उससे अन्य पक्ष में लेंगे तो ब्रह्मवित्व नहीं है टीका में दिया यथा अहम वेद अतो अन्यन प्रकारेण विदुष यतो अन्यस्य यथा अहम वेद उसका अन्वय करना है यथा अहम वेद अतो अन्यस्य यथा अहम वेद अतो अन्यस्य अन्यस्य ब्रह्मवित्वम निरस्यते यथा हम वेद अतो अन्यन प्रकारन विदुष अन्य प्रकार जो जानता है ब्रह्म को मैं जानता हूं करके ब्रह्म विदित तो हुआ करके कोई जानता है तो उपास्य ब्रह्मवित्वात उपास्य ब्रह्म विदि उपास्य ब्रह्म को जानने वाला यथार्थ नहीं जानता है भाष्य में कुतोयम अर्थवश्यत इति उच्यते ऐसा कैसे निश्चय हुआ अन्य विदि क्यों नहीं जैसे मैं जानता हूं ठीक जानता अन्य अन्य यथा हम पहले कहा यो न तद्वेत तद्वेद नान्य अन्य नहीं ये कैसे हुआ कुतो अयम अर्थ निश्चय हुआ तो उसका अर्थ देते उक्ता अनुवादात उक्त का अनुवाद किया जो पहले कहा था उसका अनुवाद किया उक्तम ही उक्तम ही अनुवदति नो न वेदेति वेद अंत में नो न वेदेति वेद चतुर्थ पाद है चतुर्थ पाद मंत्र में क्या है नो न वेदेति वेद च ये पहले कहा था क्या पहले कहा है द्वितीय पाद में क्या है हां चतुर्थ पाद में क्या है द्वितीय पाद में तो चतुर्थ पाद में जो कहा गया वो पहले कहा गया था अभी तुम पूछते हो नो न वेदेति वेदच ये पहले कहा गया था क्या किस बाद में हाँ उक्तम ही अनुवदति यद उक्तम तद अनुवदति कुत्र उक्तम द्वितीय पादे यद उक्तम तदेव अनुवदति चतुर्थ पादे नो न वेदेति वेदच तो उक्तम ही अनुवदति जो कहा गया था उसका अनुवाद करता है इसलिए क्या सिद्ध हुआ इसको ऐसा ही जो जानता है ठीक जानता है इसे अतिरिक्त जानता है तो ठीक नहीं जानता नो न वेदेति वेदच इसी प्रकार नो न वेद इति मैं न वेद इति न मन्ये वेद च न वेद च जानता भी नहीं भी जानता इस प्रकार जो जानता है वो ठीक जानता है ब्रह्म को वेद च वेद च का अर्थ वेद च और नवेद च वेद च किसको लेकर के स्वरूप ज्ञान को लेकर के और नवेद च विशेष विज्ञान को लेकर के ऐसा जो जानता है ठीक जानता है अन्य नहीं ठीक है मैं अभ्यासाख्य तात्पर्य लिंग दर्शनात् अभिषेतया एव ब्रह्म विज्ञानं विवक्षितम इत्यर्थ तात्पर्य ग्राहक लिंग कितने है अभ्यास कौन सा है उपक्रम उपसंहारा अभ्यास अभ्यासाख्य जो तात्पर्य लिंग अभ्यास है आख्या नाम जिसका अभ्यास जो तात्पर्य लिंग तात्पर्य से लिंगम तात्पर्य का ज्ञापक लिंग तात्पर्य ग्राहक लिंग लिंग है अभ्यास नामक लिंग दर्शनात जो पहले कहा था नो न वेदिति वेदच चतुर्थ बाद में वही कही अभ्यास हो गया ये तात्पर्य कहा कि लिंग होने से ऐसे ही ज्ञान ब्रह्म विज्ञान यते कैसे वेद ऐसा नहीं वेद ज्ञान होता है ऐसा नहीं अविषयते एव ब्रह्म विज्ञान सत ज्ञान स्वरूपन से वेद और विशेष विज्ञान का विषय नहीं होने से अवेद न वेदच तो एव ब्रह्म विज्ञानम ब्रह्म का ज्ञान केन रूपेण अभिषेयत्वेन घट का ज्ञान होता है विषयत्वेन होता है इदम अयम किंतु ब्रह्म का ज्ञान इदम तो अद नहीं स्वरूप तो ज्ञान है विषयत है एव ब्रह्म विज्ञानम स्वतः ब्रह्म ज्ञान है अज्ञान नष्ट हो जाने से यही विवक्षित है तो अज्ञान की निवृत्त अज्ञान का निवर्तक ज्ञान कौन है विशेष विज्ञान विशेष विज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति वो आत्मा में है या ब्रह्म में है वो है अध्यस्त आरोपित है अंतकरण का परिणाम है ये पराध्यस्तम उपाधि के द्वारा आरोपित है विशेष विज्ञानम एका विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम परेण उपाधिना अंतकरणेन आध्यस्तम आरोपित है आत्मा में अध्यस्त है विशेष विज्ञान ही से आत्मा में ब्रह्म में ज्ञानवत्वम वास्तव है ज्ञानवत्व वास्तव नहीं वास्तव ज्ञान का आश्रय ब्रह्म नहीं होता है स्वयं ज्ञान स्वरूप है ज्ञान का आश्रय नहीं रूप स्वयं रूप है रूप का आश्रय रूप होता है क्या इसी प्रकार ब्रह्म नित्यम ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ज्ञान रूप ब्रह्म है ज्ञान का आश्रय नहीं होता है ज्ञान ब्रह्म ज्ञान और अज्ञान दोनों ब्रह्म में आरोपित है अध्यस्त है विशेष विज्ञानम ब्रह्म में आरोपित है या नहीं विशेष विज्ञानम च पराध्यस्तम कुत्र आत्मनि आत्मा में विशेष विज्ञान आरोपित और अज्ञान कहाँ है आत्मा में जहां ज्ञान वही अज्ञान जहाँ ज्ञान वही ज्ञान होगा तो अज्ञान का निवर्तक होगा अज्ञान चैत्र में और मैत्र को ज्ञान हो गया अज्ञान रहेगा चैत्र में मैत्र को ज्ञान हो गया ना चैत्र में अज्ञान रहेगा हाँ, अज्ञान के आश्रय में ज्ञान होगा तो अज्ञान निवृत्त होगा एकत्र अज्ञान दूसरे एकत्र अंधकार वहां जलाए प्रकाश अंधकार की निवृत्ति कैसे होगी समान आश्रय हो तो निवर्त निवर्तक भाव होगा इसलिए अज्ञान का भी आश्रय ब्रह्म ज्ञान का भी आश्रय ब्रह्म किंतु आश्रय वास्तव नहीं है अज्ञान ज्ञान आश्रयत्वम ब्रह्म में दोनों आरोपित है जहाँ अज्ञान आरोपित वहीं ज्ञान आरोपित है तब अज्ञान का निवर्तक होता है तो अज्ञान भी ब्रह्म में आरोपित है और अज्ञान का आश्रय ब्रह्म होने से वह वाचस्पति मिश्र कहते हैं अज्ञान का जब आश्रय हो गया उसको जीव कहते हैं शुद्ध ब्रह्म तो अज्ञान का आश्रय नहीं अज्ञान का आश्रय हो गया तो कम से कम अज्ञान है तो अज्ञान आश्रय तो हो गया तो शुद्ध नहीं रहा प्रकार विवरणकार कहते हैं अज्ञान वास्तव नहीं मरु में कल्पित जल हो गया तो मरुभ में सुखी रही इसी प्रकार अज्ञान कल्पित हो तो ब्रह्म तो शुद्ध है आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिरेव केवल अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों निर्विभाग शुद्ध चैत्य नहीं है अज्ञान उसमें आरोपित है ज्ञानी उसमें आरोपित होगा अंतकरण परिणाम पराध्यस्त है उससे अज्ञान की निवृत्ति होती अज्ञान का निवर्तक ज्ञान शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ज्ञान है या नहीं क्या उत्तर दो सुनते हो तो अज्ञान का निवर्तक शुद्ध स्वरूप ब्रह्म ज्ञान नहीं है शुद्ध स्वरूप जो ब्रह्म है ज्ञान वह अज्ञान का निवर्तक नहीं कुछ लोग डरते हैं कि शुद्ध ब्रह्म ज्ञान का नष्ट नहीं करेगा और अनित्य ज्ञान फिर अज्ञान का नष्ट कैसे करेगा अनित्य ज्ञान ही ब्रह्माकार वृत्ति जो वेदांत प्रमाण से उत्पन्न होता है वह अज्ञान का निवर्तक है द्वितीय मंत्र हुआ नाह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेदेति वेदच आगे तृतीय मंत्र शिष्याचार्य संवादात प्रतिनिवृत्य स्वयं रूपेण श्रुति समस्त संवाद निवृत्तम अर्थमेव बोधयति अभी श्रुति में शिष्याचार्य संवाद चल रहा था केने सीतम पहले प्रश्न हुआ आचार्य ने उपदेश किया फिर आचार्य ने बुद्धि विचार करने के बाद शिष्य ने उत्तर दिया ये शिष्याचार्य संवाद था संवाद से हट करके प्रतिनिवृत्य श्रुति स्वयं कहती स्वयं रूपेण श्रुति बोधयति स्वयं श्रुति बोधयति आगे जो मंत्र है वो श्रुति वाक्य है ना आचार्य का ना तो शिष्य का स्वरूपत श्रुति बोधयति समस्त संवाद निर्वृतम अर्थम समस्त संवाद से पूरे संवाद से निर्वृतम संपन्न जो अर्थ सिद्ध हुआ गुरु शिष्य संवाद चला था उसी संवाद से जो अर्थ सिद्ध हुआ उस अर्थ को ही बताती श्रुति आगे मंत्र के द्वारा यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदस विजानतां विज्ञातम् अभिजानतां यस्य अमतं तस्य यस्य ब्रह्म तस्य मतं ब्रह्म अमतम तो अज्ञात ब्रह्म अज्ञात है तस्य मतम वो ठीक जानता है तो उसका जो ब्रह्म जिसके दृष्टि से जिसको ऐसा निश्चय है ब्रह्म अविदित ऐसा निश्चय जिसको है उसको वो सम्यक जानता है तस्य मतम वो जानता है जिसको ब्रह्म अविदित है उसको ब्रह्म वस्तु तो विदित ऐसा अर्थ नहीं जिसको ब्रह्म अविदित ऐसा निश्चय है ब्रह्म अविदित अमत ऐसा निश्चय जिसका है उसी को ही सम्यक ज्ञान है सम्यक ज्ञान उसका ही ज्ञान है तस्य मतम तस्य मतम ज्ञानम ज्ञातम ब्रह्म मतम यस्य नवेदस यस्य मतम जिसके दृष्टि से ब्रह्म ज्ञात होता है ब्रह्म ज्ञात ऐसा जिसके निश्चय होता है वह यस्य मतम जो जान निश्चय कि ब्रह्म ज्ञात है ब्रह्म ज्ञात है निश्चय जिसको होता है न वेदसौ नहीं जानता है ब्रह्म ज्ञात ज्ञान का विषय होता है ऐसा जिसको मत है स न स ब्रह्म विदित है जिसके यह निश्चय है कि ब्रह्म विदित है वो नहीं जानता है आगे अभिज्ञातम विजानता ये हेतु है यस्य अमतम तसमतम जिसके दृष्टि से ब्रह्म अभिषय है विदित नहीं होता है अविदित ही रहता है वो ठीक जानता है यस्य मतम जिसके दृष्टि से ब्रह्म ज्ञात है वो नहीं जानता है सनवेदस क्योंकि देहादि ज्ञात होते हैं ज्ञात तो ब्रह्म से भिन्न देहादि में ब्रह्म बुद्धि होकर के भ्रांति से जिसको निश्चय है वो ब्रह्म उसके लिए ज्ञात हुआ यस्य मतम स न वेदो नहीं जानता है क्योंकि अभिज्ञातम विजानताम विजानताम ब्रह्म अभिज्ञातम विजानताम तो जिनको ब्रह्म ज्ञान है उनके लिए ब्रह्म विज्ञात नहीं होता है अभिज्ञात होता है विजानताम अभिज्ञातम इसका इसे सिद्धांत अर्थ करना विजानताम अभिज्ञातम जो जानते हो नहीं जानते और जो नहीं जानते वो ठीक जानते हैं जो जानते हो नहीं जानते जो नहीं जानते वो छुट्टी जानते ऐसा अर्थ नहीं विजानता विशेष जानने वाले के लिए ब्रह्म अभिज्ञात होता है विज्ञात नहीं ज्ञान का विषय नहीं होता है स्पष्ट जिनको ज्ञान है उनके लिए ज्ञान का विषय नहीं होता है और विज्ञातम अभिजानता जो नहीं जानते उसके लिए ब्रह्म ज्ञात है जो नहीं जानते वो ज्ञात तो कहेंगे तो भेड़ बकरी चलाने वाले ब्रह्म ज्ञानी वो नहीं जानते ना अभिजानता ब्रह्म विज्ञातम जो नहीं जानते वो ठीक जानते जो नहीं जानते वो ठीक जानते जिनको ब्रह्म ज्ञात नहीं है वो ठीक जानने वाले जो न जानने वाले को ब्रह्म ज्ञात है तो भेड़ बकरी चलाने वाले ब्रह्म ज्ञानी उनकी पूजा करो जा करके वो नहीं जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी है ना नहीं जानने वाले कौन है बिल्कुल भेड़ चराने वाले उनको कुछ पता नहीं ये नहीं अभिजानता का अर्थ बिल्कुल अज्ञानी नहीं विज्ञातम तो, तो ब्रह्म को नहीं जानते देहादि में जिन के ब्रह्म इंद्रिय मन आदि में आत्मबुद्धि करने वाले के लिए अभिज्ञानता तो अर्थ ब्रह्म को स्वरूप को नहीं जान करके इंद्रिय मन आदि में आत्मबुद्धि जो करते उनके लिए ब्रह्म विज्ञात तो होता है देह इंद्रिय को जो आत्मा मानेगा उसका ब्रह्म कौन हुआ देह इंद्रिय मन देह इंद्रिय मन विज्ञात होते हैं नहीं होते तो अभिजानतम का अर्थ देह इंद्रिय मन में आत्मबुद्धि करने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञात होता है उनके लिए विज्ञात होता है अभिजानता का अर्थ बिल्कुल कुछ नहीं जानने वाले भेड़ बकरी चलाने वाले उनके लिए ब्रह्म विज्ञात नहीं जो अभिजानतम विज्ञातम का अर्थ तो जो नहीं जानने वाले वो ठीक जानते ये अर्थ नहीं जो देहादि में अहम बुद्धि करने वाले ब्रह्म को नहीं जानने वाले उनके लिए उनके दृष्टि से ब्रह्म विज्ञातम उनके दृष्टि से विज्ञात वो मानते हैं क्योंकि देहादि विज्ञात होते हैं अभिज्ञातम विजानताम देखो यहाँ अभिज्ञात शब्द आगे भी अभिजानता में आया विजानताम विज्ञातम इसमें विजानता में वास्तव ज्ञान वाले विजानताम वास्तव ज्ञान ज्ञानी के लिए ब्रह्म अभिज्ञात रहता है और विज्ञातम तो अभिज्ञानता का अर्थ जो अभिज्ञानता जो बिल्कुल अज्ञानी है वही ज्ञानी है ये अर्थ है विज्ञातम में वास्तव ज्ञान है क्या देखो विज्ञातम अभिज्ञानता अभिज्ञानता विज्ञातम वही ठीक जानते विज्ञात तो मतलब वही ठीक जानते ये अर्थ है हैं विज्ञात तो उन्हीं के दृष्टि से विज्ञात तो। जो इंद्रिय मन आदि को ब्रह्म समझते हैं उनके दृष्टि से ब्रह्म विज्ञात होता है वास्तव ज्ञान नहीं है भ्रांति है विज्ञातम का अर्थ वस्तुत्व ज्ञान हुआ उनको यह ऐसा नहीं समझना जो नहीं जानते हैं उनके लिए वास्तव ज्ञान है यह अर्थ नहीं है जो देहादि में अहम बुद्धि करते हैं आदि में उनके लिए ब्रह्म विज्ञात होता है क्योंकि देहादि को ब्रह्म मानते हैं जो वास्तव जानने वाले इसमें कहां कहा गया अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम वास्तव ज्ञान कहां कहा गया इस वाक्य में बोलो हैं हां विजानताम विजानताम ठीक जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्म अभिज्ञातम अभिषय ब्रह्म विषय नहीं होता है अभिज्ञात का तो विदित नहीं होता है अभिदित विदितन भिन्न विदित नहीं अभिज्ञात का तो विदित अन्य विदित नहीं है विजानताम विदित नहीं है और अभिजानताम विज्ञातम अभिजानताम देहादि को जानने वाले के लिए ब्रह्म विज्ञात मतलब वास्तव जानते हैं ब्रह्म ज्ञान विज्ञात का तो उनके दृष्टि से विज्ञात होता है विदित होता है विज्ञात का तो विदित जब विदित मानते हैं ब्रह्म को यथार्थ ज्ञान है क्या नहीं नहीं जानने वाले के लिए ब्रह्म विदित मान मानते हैं और जानने वाले ब्रह्म को विदित से भिन्न मानते हैं अभी जानता इसमें अर्थ में थोड़ा कुछ दिया है उसको को समझना चाहिए ठीक करके अर्थ में दिया है जैसे ब्रह्म को ब्रह्म अविदित है अविदित ऐसा निश्चय है उसको ब्रह्म सम्यक विदित है आगे जिसका यह निश्चय है कि ब्रह्म विदित है वह नहीं जानता क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानियों की दृष्टि से अभिज्ञात ऐसे करना जानने वाले के लिए अभिज्ञात रहता है और नहीं जानने वाले को ज्ञात होता है उसका अर्थ समझना वह ब्रह्म ज्ञानियों के दृष्टि से अभिज्ञात है और इंद्रिय मन आदि में आत्मबुद्धि करने वाले के लिए ज्ञात होता है हिंदी अर्थ में ऐसे करना ज्ञानियों की दृष्टि से अभिज्ञात है और इंद्रिय मन आदि में आत्मबुद्धि करने वाले के लिए ज्ञान तो होता है और आगे जो दिया है अब अन्य वस्तु की भांति फल व्याप्ति का विषय नहीं होने से और ब्रह्माकार वृत्ति का भी साक्षी होने से नहीं वृत्ति का विषय होने से ब्रह्माकार वृत्ति का विषय है अतः विद्वान के विषय तो यस्य अमतम तस्य मतम जिसके दृष्टि से ब्रह्म अज्ञात है वो ठीक जानता है अरे मतम यस्य जिसके दृष्टि से ब्रह्म ज्ञात होता है स न वेद ठीक नहीं जानता है उसका हेतु ही क्योंकि विज्ञानता ब्रह्म अभिज्ञातम जो ठीक समझते ब्रह्म को जानते जानते ब्रह्म ज्ञानी उनके लिए ब्रह्म विदित नहीं है विदित भिन्न है विज्ञात न विदित से भिन्न है और जो नहीं जानने वाला अभिजानता ब्रह्म विदित नहीं जानने वाले मानते ब्रह्म विदित हुआ और जानने वाले मानते ब्रह्म विदित से भिन्न है विदित विदित से भिन्न है यस्य ब्रह्मविदो अमतम यस्य मतम तस्य मतम अभिज्ञातम अविदितम ब्रह्म इति मतम ब्रह्म अभिज्ञातम अभिदितम ब्रह्म ऐसा जिसका अभिप्राय निश्चय देखो अर्थ कैसे क्या जिसका ऐसा निश्चय है ब्रह्म अविदित ऐसा निश्चय है ये अर्थ करना जिसका जिसको ब्रह्म अविदित ऐसा निश्चय है अविदितम ब्रह्म मतम का आधा अभिप्राय निश्चय तस्य मतम वो ठीक जानता है तस्य मतम का तस्य ज्ञातम सम्यक ब्रह्म ब्रह्म को सम्यक ज्ञान विदित हुआ तस्य सम्यक विदितम दो सम्यक विदित वस्तुतः नहीं सम्यत विदित यस्य पुनर्मतम जिसका मतम मतलब तो ज्ञातम ज्ञात मतलब विदितमय ब्रह्म इति निश्चय जिसके दृष्टि से ब्रह्म ज्ञात हो गया मेरे द्वारा जहां ज्ञात हो गया स न वेद न स न ब्रह्म विजानाति स ब्रह्म को नहीं जानता है जिसके दृष्टि से ब्रह्म ज्ञात विदित हुआ वो ठीक नहीं जानता है ज्ञातम इति निश्चय न वेदेव स न ब्रह्म विजानाति स विद्वत अविद्वसौर यथोक्त पक्षावदारयति विद्वान अविद्वान दोनों पक्ष इसमें दिया यस्यामतम तस्यमतम ये विद्वत पक्ष अविद्वत पक्ष है हम्म यस्यामतम तस्यमतम विद्वत पक्ष और मतम यस अनवेदस अविद्वत पक्ष हुआ उत्तरार्ध में विद्वत पक्ष कौन है प्रथम पाद या द्वितीय पाद प्रथम पाद है विद्वत पक्ष द्वितीय पाद चतुर्थ ऐसे अभी विद्वत अविद्वसर यथोत पक्षों का अवधान करते अभिज्ञातम विजानता विज्ञातम विजानता अभिज्ञातम अमतम अविदितम एव ब्रह्म ब्रह्म विज्ञात नहीं होता है विदित नहीं होता है अमतम अविदितम एव ब्रह्म विजानताम का तो सम्यक विदित इति तत् सम्यक जो जानते हैं ज्ञानी उनके दृष्टि से ब्रह्म विदित नहीं है विदित से भिन्न अभिज्ञात का तो अविदितम अमतम अविदितम विदित नहीं होता है ब्रह्म ऐसा सम्य ज्ञानी के लिए अरे विज्ञातम विज्ञान तो विज्ञातम तो विदितम ब्रह्म ब्रह्म विदित अभिप्राय होता है किसके लिए अभिजानता नहीं जानने वाले असम्यक दर्शी न जो सम्यक दर्शी नहीं है सम्यक दर्शी नहीं मतलब बिल्कुल मूर्ख है उनके लिए ब्रह्म विदित वो लोग मानते ब्रह्म विदित मानते हैं मूर्ख इसलिए अभिजानता का अर्थ इंद्रिय मन बुद्धि सेव आत्मत्व आत्मदर्शिना इंद्रिय मन बुद्धि में जिनके आत्मदृष्टि है उनके लिए ब्रह्म विदितम न तो अत्यंत में अव्युत्पन्न बुद्धि नाम अत्यंत अव्युत्पन्ना बुद्धि रेशाम बिल्कुल कुछ नहीं समझते उनके लिए ब्रह्म विदितम होता है वो कहेंगे हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया अस्मा भी नहीं तेषाम विज्ञातम अवसा भी ब्रह्म इति मतिर्भवति जो व्युत्पन्न बुद्धि वाले है उनके से बुद्धि होती ब्रह्म विज्ञातम अस्माभिर हमने ब्रह्म को जान लिया ऐसा ज्ञान होता है इसलिए हमने जान लिया ब्रह्म विज्ञात है ये किसका मत होगा जो देह इंद्र मन में बुद्धि करता है इसलिए अभिजानमत का अर्थ तो बिल्कुल अज्ञानी नहीं अभिजानता ब्रह्म को नहीं जानते देह इंद्रिय को जो हम मानते बुद्धि मानते उनके लिए ब्रह्म विदित होता है इंद्रिय मन बुद्धि आत्मदर्शना आत्मदर्शनातु इंद्रिय मन बुद्धि आदि उपाधि है उपाधि में जो आत्मदृष्टि करते उसको आत्मा मानते हैं तो ब्रह्म उपाधि विवेक का अनुपलम्भात ब्रह्म और उपाधि दोनों का विवेक नहीं होने से नहीं होने से बुद्धि आदि में आत्मबुद्धि होगी बुद्धि देह इंद्रिय से आत्मा भिन्न है किंतु उपाधि के साथ ब्रह्म का तादात्म्य अज्ञान के कारण विवेक नहीं होने से बुद्धि आदि उपाधिश्च विज्ञातत्वात् बुद्धि आदि उपाधि को जानते हैं बुद्धि को जानते मन को जानते देह को जानते विदित है इसलिए विदितम ब्रह्म हेतु उपपद्यते भ्रांति उनके लिए भ्रांति होती ब्रह्म विदित क्योंकि देहादि में हम बुद्धि ब्रह्म बुद्धि करते हैं अतः सम्यक दर्शन पूर्व पक्षत्वेन उपन्यस्यते सम्यक दर्शन का पूर्व पक्ष हो गया विज्ञातम अभिजानताम विज्ञातम अभिजानताम का अर्थ नहीं करना जो अभिजानता नहीं जानने वाले उठी के जानते अर्थ है जो नहीं जानने वाले उनके दृष्टि से ब्रह्म ज्ञात है विज्ञात है देहादि में अहम बुद्धि करने वाले अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्ध अथवा उत्तरार्ध के हेतु ही अभिज्ञातम इत्यादि अभिज्ञात विज्ञानतम विज्ञात अभिज्ञात विज्ञानतम इसलिए यस्य मतम तस्य मतम विज्ञातम अभिजानताम इसलिए मतम यस्य नवेदस पूर्व के लिए उत्तर हेतु ही यस्या मतम तस्य मतम कस्मात् अभिज्ञातम विजानता मतम यस्य न वेदस कथा कस्मात अभिजानता विज्ञातम ये उत्तरार्ध हेतु के लिए अच्छा अतः टीका है ओम आप्यायन